दशमुख सकल सथात ह्या गे कहि सहित भा भागे ओहु कपट मृग तुम तुमछलकारिन् विधि हरिया नव नृपनारि तेहि सुनहु दसे सा ते नर तासो चराचरै बयरु नहि के मारे मरिय जियाए जी जय मुख राखन गय कुमार बिनु फर सर रघुपति मोहिमा सत जो जन आयऊ छन माही तिन सन बयरु किए भल नाही भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा तुम छल करने वाले कपट मृग बनो जिस उपाय से मैं उस राज वधु को हर लाऊं तब उसने मारीच से कहा हे दस्सी तब उसने मारीच ने कहा हे दस्सी सुनिए वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं हे तात उनसे वैर न कीजिए उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था जिससे मैं क्षण भर में सौ योजन पर आ गिरा उनसे वैर करने में भलाई नहीं है भई मम कीट भृंग की नाये जह तह मैं देखूं दुई भाई जो नर तात तदपियति सूरा तिनहि विरोधिन आये पूरा जहि ताड़ का सुबाहुहते खंडे उहर को दंड दूषण तिथिरा बधो मनुज के असबर बंड मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ और हेतात यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा सफलता नहीं मिलेगी जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है जाहु भवन कुल कुसुम कुशल विचारे सुनत जरा दिंढ बहुगारे गुरुज मूढ़ कर सिम बो धाम कहु जग मोहि समान को जो धाम तब मारी चहृदय अनुमान नवहि विरोधे नहि शस्त्री मर्मी प्रभु सठ वैद बंदी कवि भान सगू अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी दुर्वचन कहे कहा अरे मूर्ख तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोईया इन नौ व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता उभय भाति देखा निज मर तब ताक सिर घुनायक सर राम उतर देत मोहि बधव अभागे कस न मरौ रघुपति असजिय जान दसानन संग चला रामपद प्रेमयभङ्ग मन अतिहर सजनावन ते आज देखे आऊँ परम सने जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं हृदय में ऐसा समझकर वे रावण के साथ चला श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया निज परम प्रीतम देखिलोचन सुफल करी सुख पाई हूँ सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद हो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही सहि सर संधान सो मोहि बधि सुख सागर हरी मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण फिर फिर प्रभु बिलोक हो धन्य नमो समयान वह मन ही मन वह मन ही मन सोचने लगा अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है आहा वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है